यह प्रवचन हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 21 के श्लोक 9 पर दिया गया हरिद्वार में वर्ष 2001 में 1 से 7 मई तक आयोजित वेणु गीत सप्ताह के अंतर्गत 4 मई की सायंकालीन बैठक में यह संपन्न हुआ सरदयम कुशलम सवेरु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम् भुङ्क्ते स्वयं जगवशिष्टरसं हृदिन्यो स्या त्वचश्रुममुचुस्तरौ यथार्यः वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिम् जगदेवकी

गोपा नाम भाग्यं देवरपी भाग्यं की वक्तव्य महाभाव स्कृत उन्मादतया मिथ्या कल्पना मिथ्याकल्पनापूर्वकं स ईर्ष्याभिलाषमाभिगोप्य इति अहो बत गोपा नाम भाग्यम हे सखियों हे गोपियों गोपों के कृष्ण सखाओं के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए वेणु अपनी भाग्यों के वक्तव्य वेणु के भाग्य का क्या कहना है जड़ वेणु कितना भाग्यशाली है इस पर विचार करो महाभाव के कारण स्फुरित होते हुए उन्माद के कारण वासुरी में ही व्यक्ति की कल्पना करके और मिथ्या कल्पना है यह और इस प्रकार ईर्ष्या के साथ अपने हृदय से व्यक्त करूंगा देवरू से ईर्ष्या हो रही महाभाव अर्थात परम उच्च कृष्ण प्रीति का लक्षण है कृष्ण से संबंधित किसी भी वस्तु में बहुत सौभाग्य की कल्पना होती है जड़ पदार्थ में शुष्क बांस में ऐसी भावना हो गई है हो रही है कि यह मेरी शौक बन गई है राधा रानी की भावना है चाहे अन्य किसी भी गोपी की तो वेणु के साथ ईर्ष्या हो रही है सबसे पहले संबोधन है गोप्य हे गोपियों इसके द्वारा मानी राधा रानी यह कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण गोप हैं और तुम लोग गोपी हो तो श्री कृष्ण के संबंध में जो भी रस है जैसे उनका में इत्यादि उस पर तुम्हारा अधिकार होना चाहिए क्योंकि तुम गोपी हो और कृष्ण गोप है अन्य किसी का भी उस पर अधिकार नहीं क्योंकि देवता आदि सब मनुष्य से दी जाती है और मनुष्यों में भी कई जाति के मनुष्य हैं तो कृष्ण पर अगर किसी किसी का अधिकार है तो गोपियों का क्योंकि कृष्ण गोप संबोधन का अर्थ हुआ अयम वेणु किम कुशलम आचरत इस वेणु ने क्या तप किया है क्या सुकृत किया है कौन सा पुण्य किया है क्यों कैसे पूछ रहे कि क्या पुण्य किया है पुण्य का कोई लक्षण है क्या इसमें हाँ जब अधर सुधा भूखते यह दामोदर के अधर सुधा को भोग रहा है यही इसके पुण्य का लक्षण है बिना पुण्य के बिना सुकृत के कृष्णा कृष्णा कृष्णा धरामृत प्राप्त नहीं हो सकता अपनी गोपिका नाम जो गोपिकाओं का है उसको यह पी रहा पुनिंग है इसलिए पुनिंग बोला जाना कभी कभी साथ हम बांसुरी भी कह देंगे तो उसका अर्थ तो समझना चाहिए वेणु वेणु कहने पर बांसुरी श्री कृष्ण का अधरामृत गोपियों का है अपी का अर्थ यद्यपि दामोदराधर सुधान गोपिका नाम गोपिका नाम एवं दामोदराधर सुधान जिस कृष्ण के अधरामृत पर गोपियों का अधिकार है उसको भूखते यह भोग रहा है वेणु पी रहा है और स्वयं स्वयं का दो अर्थ है एक तो अकेले भोग रहा है और किसी को बांट नहीं रहा है तो स्वयं भूखते अथवा स्वयं का अर्थ है बिना गोपिकाओं के तुम लोगों की अनुमति के भोग रहा है स्वयं भोग रहा पूछा भी नहीं और सखी चुपचाप भोग लेता तब भी दुख की बात नहीं है भोग भोग करके डकार छोड़ रहा है ये फुटकार नहीं है इसकी डकार है और ये कभी कभी बोल रहा है कि गोपियों तुम क्या कर सकती हो हमारा हम तुम्हारा धन लूट रहे हैं श्री कृष्ण ऐसे बोलते थे बांसुरी में तो गोपियों को ऐसा अनुभव होता था कि बेणु बोल रहा है जिन हरदिनियों के तट पर बेणु उगा है इसका वंश उगा है हरदिनी के दो अर्थ है एक तो हृदय जिसमें है नदियों में बीच बीच में हृदय होता है तो इसलिए उनको हृदयनी कहते हैं हृदय का से द हुआ भी जो लोग देखे हैं नदी को बीच बीच में हृदय बन जाता है तुमको तो हृदयनी कहते हैं और जहाँ दह होता है उसके तट पर बांस उगते हैं पेड़ उगता है अथवा हृदय का अर्थ होता है हृदय की पत्नियां जो है छोटे छोटे सरोवर को भी ह्रद कहा जाता है छोटे छोटे सरोवर को हृदय कहा जाता है और बड़े बड़े सरोवर को ह्रद कहा जाता है तो हृदया वेणु द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट रस को पी करके और ये बहुत प्रसन्न है भूखते स्वयं जदवशिष्ट रसम हृदय में निश्चय त्वचो श्रीमुन सुस्तव तथा हृदयों को रोमांच हो रहा है निश्चित देखो तलाइयों को नदियों को रोमांच हो रहा है क्योंकि इनके तट पर बांस हुआ है और उसी बांस का बेड़ू बना हुआ है ये संबंध मिला करके हर्षित हो रही कमल आदि खिले हैं हृदयों में इसलिए कह हैं कि रोमांच हो रहा है खुशी में संबंध जोड़ करके बेड़ू कृष्ण का भक्त हो गया है और हमारे तट पर उत्पन्न हुए बांस का पुत्र है इसलिए हम धर्म अथवा हृदनिया कृष्ण के अधरामृत को पीती है वो इस तरह से सारा रस तो देव पी गया है राधा रानी कहने का भाव ये है लेकिन थोड़ा सा बचता है तो कृष्ण जाते हैं हृदय में आचमन करते हैं और पीते हैं और अवगाहन करते हैं जब उसमें तो स्वाभाविक ही अधर भी पानी में डूबता ही है तो वेणु द्वारा छोड़े गए उच्छिष्ट को हृदनिया पी करके इतना हर्षित रोमांच हो रहा है और ये वृक्ष तरवा ये सोचते हैं कि वेणु हमारी जाति का है वृक्ष जाति का है तो ये लोग भी आंसू बहा रहे प्रेम में आंसू बहा रहे हैं जैसे आर्ज लोग आज का अर्थ है भगवत भक्त जैसे भक्तों के महान पुरुषों के परिवार में कोई भगवत भगवत सेवक जन्म लेता है तो वे लोग आनंद में आंसू बहाते सारे वृक्षों में सारे वृक्ष रो रहे हैं रोमांच है पुलक और अश्रु छाया है देखो इससे ये हो रही है कि वेणु के प्रति दोष दृष्टि किसी की नहीं है हृदयों की अनुकूल बुद्धि है और वृक्ष सब प्रसन्न है और धन तो हमारा लूटा जा रहा है और सब प्रसन्न जड़ वृक्षों में तलाइयों में और वेणु में इस प्रकार की भावना यह महा भाव के कारण उत्पन्न हुए उन्माद के कारण सारा संसार महाभाग्यवान दिख रहा है गोपियों को कृष्ण के संबंध से यह एक इस श्लोक का सामान्य अर्थ है श्रीधर स्वामी जी अर्थ हे गोप्य अयम वेणु किम स्म पुण्यम आचरत कृतवा कथम ज्ञाते कैसे जानते हो किसने इसने पुण्य किया है जब जस्मा गोपिका नाम एवं भोग्याम सतीमपि दामोदराधर सुधाम स्वयं स्वातंत्र यथेष्टम भूत कथम किस तरह की रहा है क्रिया विशेषण पर प्रश्न किया गया है कितना पीता है कैसे पीता है क्या करता है तो कहती है अवशिष्ट रसम केवलम अवशिष्टम रस मात्रम यथा भवती तथा है इतना पीता है कि बस नाम मात्र का रस बचता है बस सुधा तो पी जाता है रस भर बचता है सुधा में और रस में अंतर नाम मात्र रस बचता है जतो जासन अच्छा, जतो जासन इसकी पहचान क्या है जतो जासन हरदनी नाम पैसा पुष्ट जिनके जल से यह पुष्ट हुआ है वेणु का मातृतुल्य हृदय माता के भाव रखने वाली वो हृदयनिया हृषत त्वच विकसित कमल वन मिशेण रोमांचिता विकसित कमल वन मिशेण अरे ये सखी बहाना है बहाना है कि कमल खिले हुए हैं ये रोमांचिता है ये देखो सब तलाइयों में सब हृदयों में रोमांच हुआ और इसलिए कि इनके जल से पुष्ट हुआ तो इनकी भावना है कि मेरा पुत्र कृष्ण का भक्त हो ऐसा भक्त कि कृष्ण के अधर पर अधिकार रखे हमारे जल से पुष्ट हुआ है इसलिए वो रोमांचिता अच्छा येषम वंशे है के तरव मधुधारा मिश्रण चुका जिनके वंश में यह वेण उत्पन्न हुआ है ये तरुगण मधुधारा बहाने मधुधारा के बहाने आनंदाश्रु बहा रहे जथा आर्जा कुल वृद्ध सोवन से भगवत सेवकम दृष्ट हृष्य त्वचो अश्रु मुंचंती तद्वती जैसे महान पुरुष शुद्ध वंश वाले जब देखते हैं कि उनके वंश में कोई भगवत सेवक जन्म लिया कृष्ण का भक्त हुआ तो लोग आनंद में आंसू बहा और सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा हमारे वंश में ऐसा शुद्ध कृष्ण भक्त जन्म लिया ये सब वेणु के भाग्य से अपने को भी धन्य मांग रहे हैं इस प्रकार से उद्धव स्वामी जी ये संक्षेप में आपको लिखे चरण चिन्ह पर चलते हुए अन्य आचार्य गण लिखते हैं और इन्हीं के चरण चिन्ह पर चलते हुए अन्य आचार्य गण लिखते हैं तो देखिए श्रीपा सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं अन्य अनुराग अयम वेणु किम कुसुमम आचरत अयम का करते हैं कृष्ण करस्थ अयम शब्द का अर्थ यह वेणु यह वेणु कोई कहेगा तो वेणु को देख कर मैं बोलेगा कहाँ है वो वेणु अपने पास तो है नहीं ये बोल रही है ब्रज में और श्री कृष्ण है वन में तो अयम कहना यहाँ क्या अर्थ है अयम का अर्थ है कृष्ण के कर्म अयम इतना निकट पहुंच चुकी हैं भाव द्वारा लगता है कृष्ण के बिल्कुल बगल में है और कह रहे हैं यह पेड़ मन से कृष्ण लीला का चिंता अयम वेणु यह वेणु हिम कुशलम पूर्णम आचरत कृतवान किम का क्या है क्या पुण्य किया है यह प्रश्न भी हो सकता है और क्रीम का अर्थ है अनिवाच्यम हरि सतीश वेणु ने ऐसा पुण्य किया है जिसे वचन में नहीं बांधा जा सकता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और इसका भाव यह भी है कि इसने कुछ पूर्ण नहीं किया फिर भी इसका साहस देखा किसी सखी ने पूछा कैसे कहती हो कि पुण्य नहीं किया है राधा जी कहते हैं कि पूर्ण किया होता पूर्व जन्म में इस जन्म में तो कुछ किया नहीं और उस जन्म में पूर्ण किया होता तो बांस में जन्म लेता कुछ पुण्य नहीं किया एक, इसका यह अर्थ है कि मैं कुशलम आचर न की मकी उसने कुछ पुण्य नहीं किया अथवा दूसरा भाव यह है सखी हे गोपियों पता लगाओ कि इसने क्या पुण्य किया है तो मैं भी वैसा पुण्य करूंगी मैं भी वैसा पाप करूंगी जिससे मुझे कृष्ण का ध्यान प्राप्त यद्यपि प्रत्येक रात्रि में या दिन में भी राधा रानी को स्वाभाविक सहज सुलभ है कृष्ण का धरामृत परंतु प्रेम का यह स्वभाव है सर्वदा अतृप्ति का बोध होता है इसलिए वेणु के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं और अपने को ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हमको कभी भी कृष्ण का अमृत नहीं मिला पुण्यों का फिर तो नद्य सरस्यो हृदय नदियां या सरोवरिया सरस्य वृक्षाद्या अपि जत्र अनुराग में स्तत्र किम चेतना अनुराग वास्ता भाव जहाँ पर वृक्ष तक भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं और चेतन पदार्थ वहाँ चेतनों की क्या बात कही जा सकती है और चेतन का ऐसा अनुराग कृष्ण के साथ हो सकता है तो फिर सचेतन के विषय में क्या कहे का वार्ता गोपिका नाम स्वत्व अगर सुधायाम ही गोपिका नाम अस्माकम एवं स्वत्व कृष्ण के अभिलामृत पर हम गोपियों का अधिकार है क्यों कृष्ण से गोप जाति नित्य रात्र अस्माभि संभुज मानवत्वाद मनुष्य कब एक तो कृष्ण गोप जाति के हैं और हम हैं गोपी इसलिए कृष्ण के अधर सुधा पर हमारा अधिकार है इस पर प्रश्न होगा केवल एक जाति होने से ही अधिकार हो जाता है तो राधा रानी मन में कहती है नित्यम रात्र अस्मा ही संभुज मानव पर प्रति रात्रि में हम उस अधरामृत को पीते हैं इसमें हमारा अधिकार है ऐसा कभी कभी होता है कि कोई संपत्ति किसी की हो लेकिन उसका अधिकार ना हो दखल ना हो लेकिन अगर कहती है वो हमारा है और अधिकार भी है प्रति रजनी में इसका अनुभव नित्यम रात्र अस्मा भी संभुज मानत बेरुस्तु दी जाती है बेरु दी जाती है हमारी जाति का नहीं एक तो यह मनुष्य नहीं है पशु भी नहीं है या वृक्ष जाती है रेणुष्टु भी जाती है परंतु कृष्ण रवि तत्व आत्मनो कृष्ण प्रेयसित्वाभिमानम भक्त परंतु कृष्ण इसके साथ रम रहे हैं और कृष्ण के आधार पर यह रम रहा है इसलिए पुरुष होते हुए भी अपने को कृष्ण प्रेयसी मान रहा है अरे वो काहे को मानने जाए प्रयासी है बेचारा देणु है लेकिन अपने मन के भाव का आरोप उस बांस पर कर रहे यह अपने को कृष्ण प्रेयसी का अभिमान रखता है और वो भी पौरुष से नहीं हृष्टता से अधिकार से बाहर पौरुष किया होता मेहनत किया होता दूसरी बात है धृष्टता से भाष्यम आविष्कृत भंगते तत्रापि परकीयम धनम तत्रापि स्वयं एवं एक तो दूसरे का धन हम लोगों का धन और वह भी स्वयं एवं न तो अन्यम जन्म कमपी संगीनम करोती किसी भी व्यक्ति को साथ में आज तक नहीं लिया कृष्ण का धर्म अकेले पी रहा है और तथापि चौर जेण न चौर जेण वो भी चोरी से नहीं पी रहा है किंतु धन स्वामिनी असमान फुतकार और फुतकार से हंकार से बोल बोल करके हमको बता करके पी रहा है चोरी से पीता तो वो भी सहन हो जाता बोल बोल करके पी रहा है हम कैसे सहे अयम का अर्थ है अस्माधि दृश्यमान अथवा कृष्ण कलस्थ नीरस दारुमय वेणु किम कत्मक पूर्णन कृतवान अस्मिन जन्मनि पूर्वस्मिन व तत्पुण्य ज्ञाते वयम अपनी तदर्थम जता महे पता लगाओ पता लगाओ किसी ज्योतिषी से पूछ करके जैसे तैसे कि इस बांस में इस वेणु में क्या पूर्ण किया था इस जन्म में या पहले जन्म में हमको पता लग जाएगा तो हम भी ऐसा ही तप करेंगे तब पूरे ज्ञाते सती वयम अपने हम जता रहे हम भी जत्न करेंगे हम लोग भी जत्न करेंगे की विस्मय स्म शब्द विस्मय का क्या पुण्य किया था या किसका साहस देखो ये विस्मय हो रहा स्म शब्द विस्मय तलिंगम आह वेणु ने पूर्ण किया है इसका इसकी क्या पहचान है तो दामोदर इत्यादि ना दामोदरादर सुधाम भूत दामोदर शब्द देना और तो दामोदर शब्द क्यों दिया गया है इसलिए आप सुनिए दामोदर शब्द देना निज जुथे सर्जा प्रेम विशेषण आत्मवश्यता बोधयम की गोपियां कह रही हैं कि हमारे जूथ की जो अधीश्वरी है श्री राधिका श्री राधा के प्रेम पास में कृष्ण बांधे गए हैं उनके उदर में राधा रानी ने फूल की माला बांधा था उसके वश में भगवान हो गए तो दामोदर को तो जो श्री कृष्ण राधा के वश में है या हम लोगों के वश में है उनके अधर सुधा को यह वेणु पी रहा है उनको अपने वश में कर यह भाव है राधा दामोदर हो द्वंदत्व राधा दामोदर द्वंदत्व वृंदावन लीला में भगवान की यह एक विशेष छवि है राधा दामोदर ऐसे माँ जशोदा ने कृष्ण के उदर में दाम बांधा था इसलिए भी उनका नाम दामोदर प्रसिद्ध हो गया लेकिन श्री कृष्ण इससे बहुत चिड़ते थे कोई भी बच्चा इनको जब चिड़ाना चाहता था तो कहता था ए दामोदर दामोदर मतलब मटका फोड़े थे माँ ने बांधा था तो कृष्ण इसको पसंद नहीं करते <laughs> अभी भीतर से उन्हें बड़ा आनंद आता था लेकिन दामोदर कहने का मतलब चोरी करने वाला मटका फोड़ने वाला माँ ने बांध दिया था ऐसे इस दामोदर शब्द से कृष्ण की शैतानी का बोध होता है तो राधा दामोदर का अर्थ दूसरा है राधा रानी के बाद जिनके उदर में दाम बांधा गया प्रेम के बस तो श्री गोपी जनों का भाव यह है कि जो श्री कृष्ण हमारे इतने बस में है कि हमारे द्वारा उधर में रस्सी स्वीकार किए फूल की माला स्वीकार किए वे बहुत सरल है हमारे प्रियतम बहुत अच्छे स्वभाव के हैं लेकिन जब से इस खल का संग हुआ इनका स्वभाव बदल गया ऐसे कहती हूँ कोई कोई गोपी कहते हैं यानी नहीं सकी बेड़ू का क्या दोष है सजनी नखते सीखते हरि खोते ये कृष्ण नख से सिख तक खोते हैं बुरे बेड़ू का क्या दोष है परंतु इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि सब वेणु का दोष ये तो ये तो दामोदर प्रेम वश में प्रेम के बस में रहते हैं वेणु के सामने से भले इनकी मति बदल गई है लेकिन ये तो है दामोदर और ऐसे दामोदर के अधर सुधा को वेणु पी रहा अतएव गोपिका नाम भोग्यम और गोपिकाओं का भोग किया है गोपिका नाम अपनी बस इतना ही कहा गया है गोपिकाओं का धान गोपिकाओं का भोग ये बात नहीं कही गई है इतना ही काफी है गोपिकाओं का यह अधर सुधा के साथ भी जुड़ सकता है और दामोदर के साथ भी जुड़ सकता है गोपिकाओं के दामोदर का अधर सुधा अथवा गोपिकाओं का अधर सुधा कनकासन दामोदर हमारे हैं न किस बैल के दामोदर का अधरामृत तो हमारा स्वत्व है हमारा धन है और इसको यह पी रहा है अयमिति पुंसत्व निर्देश पुंस्त निर्देश तस्य तद्भोग तद्भोगा योग्य तोक्ता आयम शब्द कह रहे हैं और वेणु वेणु ऐसे भी पुलिंग और आयम शब्द भी पुलिंग है स्त्रीलिंग होता तो इम रहता है आलम आलम कहा पुरुष कह रही तो एक पुरुष का कोई अधिकार नहीं है किसी पुरुष के अधर्म अधर्म को पीने तो स्त्री का अधिकार है यह कहने का भाव और इसीलिए गोपी का नाम कहते हैं हम गोपियों का अधिकार है इसका अधिकार नहीं है तथापि भूखते और तदेको को भोग्य कत्व में सदा की बती और ऐसा पी रहा है ऐसा पी रहा है इसको चाहिए था कि थोड़ा सा पी लेता और बाद बाद में कुछ महाप्रसाद भात रोटी आदि भी खाता यह बिल्कुल नहीं कर रहा है कभी माखन नहीं खाता दूध नहीं पीता केवल अधरामृत को पीने पर पड़ा है और तो कहता है कि मैं तो बस इसी तरह से उपवास कर रहा हूं एकमात्र वही भोग रहा है तस् तद अन्य भोग दर्शन क्योंकि वेणु कभी अन्य रस भी पिया है ये हम नहीं देखा है जब पीता है तो कृष्ण का जन्म पीता है यह उसकी धृष्टता दामोदराधर तद भोगानंतरम अपनी सरसय उदृश्य थे नपु शुष्क कुछ सखियों ने कहा कि हे सखियों दामोदर का अधर तो बेणु के भोगने के बाद भी सरस ही रहता है तो रस बना रहता है क्यों जल रही हो सरसा एवं दृश्य तो सरस ही देखा जाता है न तो शुष्क अभी सुखता नहीं तब कहती हूँ जब सुधाम भुक्त केवलम द्रव मात्र अवशिष्य हैं हाँ रस देखने में लगता है लेकिन सुधा तो पी जाता है अमृत पी जाता है केवल रस द्रव में थोड़ा पानी भर रहा जाता पी जाता है हे गोप्य इति तस्मा वेणु जन्म नैव सौभाग्य और हे गोप्य हे गोपियों कहने का भाव यह है कि सखियों वेणु का जन्म ही सौभाग्य का जन्म है गोपियों में जन्म लेना व्यर्थ हो गया जैसे कहा जाता है कि गोप्य गोपियों अरे क्या गोपी बन गोपी में जन्म लेना शब्द अच्छा होता कि देणु में जन्म लिया तस्मात देणु जन्मना एवं सौभाग्य न तो गोपी जन्मना एक भाव कूतो यूयम गोप्य भूता इति भाव तुम लोग कैसे गोपी हो गई और कैसे सहन कर रही हो गोपी होकर अस्माकम वक्तव्य गोपिकाना नीति कहना चाहिए था अस्माकम क्योंकि श्री गोपिया रुचि ये भी गोपिया ही बोल रही तो अस्माकम ये हमारा धन है ऐसा कहना चाहिए था लेकिन गोपिकाना कह रही है तो इसका भाव है गोपी जात्यव तद भोग भोग तद जो भोग्यत्व सिद्ध है क्योंकि गोपी होने पर ही कृष्ण का रख मिल सकता है तो श्री जी तो आज तक तप कर रही हैं चरण रज पाने के लिए लेकिन उनको नहीं क्योंकि गोपियों का अधिकार है गोप कृष्ण का और वैकुंठ में द्वारका में अन्य भाव वाली स्त्रियों को कृष्ण मिल सकते हैं लेकिन ब्रज में गोपियों के रहते हैं क्योंकि गोपा भी नाम है इसीलिए गोपिका नाम कह रहे हैं अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए तो अस्माकम भी कह सकते थे हम गोपी हम हम लोगों का धन है लेकिन गोपिका नाम कह करके उस अभियान पर अपना अधिकार बरकरार रखते हुए कहा गोपिका नाम निजाभिमान विशेषा वैदग्धि रस विशेषा च गोपी होने पर ही इस प्रकार का सौभाग्य सिद्ध है और कृष्ण का धर्म मिल सकता है जिस भाव से उस अधरामी पर हमारा अधिकार है इस भाव से अथवा वैदग्धि रस विशेष से इस बात को कह रहे हैं गोपी में श्लेषण तदेकाश अव देहादि रक्षिकारण भाव गोपी का अर्थ है रक्षा करने वाली है इससे गोपन शब्द का अर्थ रक्षा करना तो गोपिका का भाव यह है कि सखी इसमें से अर्थ है कि आज तक हम लोगों ने अपने देह की रक्षा किया है इसी आशा से कृष्ण का अधनामृत हमें मिलेगा हम कृष्ण की दासी बनेंगे देह की रक्षा कर रहे हैं और सब रक्षा कर रहे हैं लेकिन ये रक्षा आदि करना तो सब व्यर्थ हो गया ये गोपी शब्द से ध्वनित अन्यत्र व्यंजित प्रमेयमा श्रीका सनातन स्वामी अन्य बातें तो श्रीका स्वामी द्वारा व्यंजित है अधिक कहने की आवश्यकता नहीं अथवा गोपिका नाम एवं वश्य स्वामी दामोदर तस्य करे हृदय तो सदा कृष्ण हम गोपियों के हैं गोपिका नाम एवं वश्य स्वामी वा चाहे श्री कृष्ण हमारे बस में हो चाहे हमारे स्वामी हो कृष्ण हमारे यो दामोदर तस्य ऐसे दामोदर के कर कर में हृदय हृदय में बदन में मुख में सदा वर्तता नामी रहे हमें इसके लिए कोई चिंता नहीं है कृष्ण के हाथ में रहे हृदय में रहे बदन में रहे रहे लेकिन अधर सुधाम स्वयं दुष्मत सम्मति विनय भूलते इति मन दुख रहे कृष्ण के हाथ में बदन में या हृदय में लेकिन अधर सुधा पी रही और स्वयं जुस्मत सम्मति विनय तुम लोगों की अनुज्ञा के बिना ही सम्मति के बिना ही इन्हें स्वयं रस स्वयं सजाया है ये इसने पूछा होता तो हम लोग कह सकते थे ठीक है दस मिनट पांच मिनट की तो वृंदावन में सादा दस दस घंटा और ब्रज में भी आकर के खिड़क में जहां तहां सर्वदा को तो अनुमति नहीं देते और शायद इसी में सोचा कि ये लोग अनुमति नहीं देंगे इसलिए स्वयं तो हम पी देखो क्या करते हैं जुस्मत सम्मति विनय वो भूखते यह भी कहना चाहिए था कि अस्मत सम्मति विनय गोपिका ना जैसे पहला समापन कहा गया तो डायरेक्ट स्वयं अपने परिवार पढ़ करके गोपियों को इसलिए कहा जा रहा है गोपी का नाम कि सब गोपियों को एक होना चाहिए और और किसी भी तरह से बांसुरी के अत्याचार से मुक्ति होनी चाहिए हमें इसके इस दुस्साहस को रोकना है गोपियों में एकता लाने के लिए आंदोलन हो रहा है बांसुरी <laughs> के विरुद्ध में जिसने बहुत सताया तो जुस्मत सम्मति बिना ही वो है तुम लोगों की सम्मति के बिना ही भोग रहा है तो अवशिष्ट रसम अवशिष्ट का होता है उत्शिष्ट उच्छिष्ट अव शिष्ट शिष्ट का से बच्चा हुआ और अवशब्द संस्कृत में हीनार्थ में प्रयोग होता है जैसे मान शब्द है तो उसमें अव अवमान तो वो अच्छा नहीं है मान के विरुद्ध है तो इसमें हीनार्थ ये भाव कह रही हैं अवैति अवरतादिवत हीनार्थ जैसे कोई रक्त है और उसमें लगाया जाए रक्त का अर्थ है अनुरक्त असत अवरक्त तो औरत का अर्थ भी रक्त हुआ लेकिन हीन अर्थ में हुआ औरतागवत ही नार्थे और हीनम सिस्टम जस्य रसस्य तथा भूतमिता रस छोड़ता है देव लेकिन और सिस्टम हीन रस छोड़ असली सुधा में रस पी जाता है और बाद में जूस छोड़ देता है थोड़ा सा छोड़ता है मात्रा भी कम और क्वालिटी भी बिल्कुल पतला है दोनों तरह से ही करता रस मात्र अपनी न अवशेषयति इति अर्थ या बिल्कुल रस मात्र भी नहीं छोड़ता है यह अर्थ अथवा अवशिष्ट रस राग जथास्या रागस अवशिष्ट न कदाचित बिल में अथवा अवशिष्ट रसो रागो जथा से अथवा श्री कृष्ण के अधर का राग कभी सदा अवशिष्ट रहता है बचा रहता है इसका एक अभी एक अर्थ है कि हमेशा बचा रहता है इसके पीने के बाद भी बचा रहता है इसीलिए लगातार पीता रहता है श्री कृष्ण का में तो ऐसा है कि हमेशा अवशिष्ट रहता है बचा रहता है इसी से न कदाचित अभी में कभी भी विरत नहीं होता है ग्रहण हमेशा पीता रहता है तो पीने पर मान लीजिए अवशिष्ट हो जाए बच समाप्त हो जाए तब तो ये पीता ही रहेगा हमेशा बचा रहता है और इसीलिए नहीं विमत होता है किंतु मुहर भोक्ष्यत ये बात हमेशा भोगता रहता है जगवत सुधा कथम होता कैसी सुधा गोपिका नाम अवशिष्टो यो रसस तदापेक्षया तद इतरा शेष रस परित्यागा तद रूपा रूपामपिता मपी अयम भूमिका अथवा गोपिका नाम अवशिष्टो यो रस उस जूठ को पीता रहता है रात्रि में तो हम लोग पीते हैं यह भी एक भाव है गोपी का नाम अवशिष्ट रस यति भुक्त हम लोगों का उच्छिष्ट भोक्ता इसका इतना अनुराग है इसमें यह भी एक अर्थ है प्रकारांतर से लगाया जाता है कथन भूतम सुधान नाम अवशिष्टो यो रस तदेका पेक्षा उसी गोपियों के द्वारा छोड़े हुए रस को इतना ही पीना चाहता है उसकी अपेक्षा से तद इतना शेष रस परित्याग उस रस के सामने सारे रस को त्याग करके और तद रूपा मती अस्मत जुस्मत उच्छिष्टा मती भोगते तुम्हारे उच्छिष्ट को ही भोगता रहता है तत्र नाम प्रत्याख्य रस विशेषत्वे अपनी तदात्म्यापेक्षा उपचारे अशुद्ध रस किंवा रसनीय मधुर द्रव्य विशेष ही यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी विचार कर रहे हैं यह रस का क्या अर्थ है सुधा शब्द अपने आप में प्रजात है लेकिन अब इस तरह से कहा गया है जद अवशिष्ट रसम हिंदनिया भूत जत अवशिष्ट रसम जत का जिसका या जसमा अवशिष्ट रसम अधर सुधा को भोगता है और नीचे बची हुई अधर सुधा न कहकर के बचा हुआ रस तो दोनों में भेद हो यहाँ पर अर्थ किया जा रहा है रसनीय मधुर द्रव्य विशेष स्थिति रस बहुत एक द्रव्य विशेष हो तरल पदार्थ और उस, उसमें वो रसनीय हो चमत्कार पैदा करे उसको रस कहते हैं अथवा इसने पूर्ण किया है इसके एक दूसरे लक्षण को प्रकट करने के लिए यह बात कही जाती है रस अवशिष्टम उच्छिष्टम एवं तथापि रसम द्रव मात्र न तो सुधा हृदय स्नान कनादिना जगता पावन्य सर्वार्थ दस्त श्री जमुनाद्या नद्यों की गुंजते देवरू के द्वारा जो कृष्ण का ध्रामित किया जाता है और उसके बाद जो रस मात्र उच्छिष्ट छोड़ता है उस रस को जमुना आदि नदियां पीती हैं तो प्राय बांसुरी बजा करके और श्री कृष्ण बाद में जाते होंगे स्नान करते होंगे पानी लेकर पीते होंगे या नदी में कूला करते होंगे स्नान करते होंगे ये भाव आ रहा है कि इसके बाद वेणु की माताएं पीना चालू करती कृष्ण का जान तो यह इतना कृपण है वेणु कि स्वयं पीता है बच्चा खुचा अपने माँ को दे देता है और अपने परिवार को दे देता है तो श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और इसके बाद जलावगाहन करते हैं स्मरण करते हैं तो श्री कृष्ण के अधर का संस्पर्श प्राप्त होता है वेणु को या हृदयों को इस कारण से ईर्ष्या हो रही है वेणु से तो ईर्ष्या हो ही रही है और वेणु की माताओं से भी ईर्ष्या हो रही है जितना भाग्य जमुना आदि नदियों का है या तलयों का है वैसा सौभाग्य सखी हमारा नहीं स्नान पानादिना जगतम पावन हृदय में जमुना या मानसी गंगा आदि नदियां ऐसी हैं कि इनमें कोई स्नान करे इनके जल का पान करे तो जगत के समस्त जीवों को पवित्र कर देती हैं सर्वार्थ देती हैं और ऐसी पावन नदियां भी वेणु के उच्छिष्ट को पाती है खाती है सारी जगत के पापों को दूर करने वाली है वे वेणु के उच्छिष्ट को पाती है भुक्ति तो वहां से इसका है कि रस है तत्व तो रस बचा हुआ रस भी इतना महान है कि अगर जमुना आदि नदियां तो उसी में अपना सौभाग्य मांगती हैं और इसके बाद रोमांचित होती है उस रस को पाकर इसका अर्थ यह है कृष्ण बांसुरी बहुत देर तक बजाते हैं और नदियों में अवगाहन कम देर तक करते हैं कितना गाढ़ अनुराग है कृष्ण के प्रति कैसा भाव है कि जड़ पदार्थों में भी इस प्रकार का कृष्ण प्रेम देख रही है गोपियां और वैसे वह भी सत्य ही है भगवान के अधर का स्पर्श करके अकर कमल का संपूर्ण श्री विग्रह का स्पर्श करके नदियों में रोमांच हो रहा है और वेणु के कारण भी रोमांच हो रहा है ये सत्य है परंतु अब यह भाव लाने की ये खुदकार द्वारा बोल बोल करके हमको जना करके और पी रहा है ये सब तो बेकार है मतलब <laughs> ये व्यर्थ कल्पना मात्र है अपने भाव के कारण यहाँ हरदनिया शब्द श्री सनातन गोस्वामी का जी कह रहे हैं कि जगत को पावन करने वाली मानसी गंगा जमुना या अन्य सरोवरिया या सरोवर जिस रस को पीते हैं देव एक दिन नहीं लगातार जूठा करता जा रहा है और उसके रस को ये लोग पी करके आनंद के उद्रेक में रोमांचित रहती है हमेशा कमल खिला रहता है इसलिए कह रहे कि रोमांचित रहती है तो कैसे ये जाने कि ये पी रही है क्या पता है कि जमुना जी पी रही है अध्यामृत को तो प्राय यह देखा जाता है कि जल विहार आदिना अधर रागा पगमात जल निहार जब व्यक्ति कोई करता है श्री कृष्ण कर रहे हैं तो थोड़े काल के लिए अधर धुल जाता है और जो लालिमा राग होता है थोड़े काल के लिए विदा हो जाता है इसका अर्थ है जमुना आदि में बचा हुआ रस पी लिए यह भाव इस तरह से देखी है कृष्ण को खुला करके आए हुए स्नान करके आए हुए तो अधर थोड़ा सूखा हुआ है ज्यादा देर तक स्नान करने पर पानी में रहने पर ऐसा होता है इसलिए अनुमान करते हैं कि जो वेणु का छोड़ा हुआ थोड़ा रस था वो जमुना आदि में गया और उसी पर इतना भाग्यवती अपने को मान रही जगत को पावन करने वाली नदियां और वेणु के उच्छिष्ट को ग्रहण करके सौभाग्य मान रहे ऐसे कहा गया साहित्य दर्पण में एक श्लोक है उसको उद्धृत कर रहे हैं निशेष चित चंदनम स्तन तथम निर्मिष्ट रागो धरा कोई नायिका स्नान की है किसी नदी में सरोवर में तो वहां ये कहा गया है कि सरोवर में जब ने नायिका के स्तनों के चंदन को हार लिया और निर्मिष्ट रागो धरा और स्नान करने पर अधर का राग भी निर्मिष्ट हो गया स्नान करने पर ऐसा होता है कोई ग्रंथ है साहित्य दर्पण उसकी श्लोक संख्या भी दी गई है इत्यादि वचनों का काव्यु अनुमान द्वारा प्रसिद्ध हुआ काव्य में भी प्रसिद्ध है और ऐसे देखा जाता है अनुमान द्वारा भी तो तासन तो भोगे लिंगम ठीक है यह माना जाएगा कि हृदय वेणु के द्वारा छोड़े हुए रस को पीद क्या पहचान है कि पी रही है हृदयों में कोई लक्षण है तब कहती हाँ हृष्यक त्वचा हृष्यक त्वचा इति युवक युवत्पत्तिवर्तिनो जगद उपकार परा भगवत स्मृत महात्म्या भुंज हृष्यक त्वचा इससे पता चलता है कि हृदय जमुना आदि नदियां कृष्ण के अधर रस के अधरा मृत के अवशिष्ट रस को पाई है क्योंकि उस रस को भोगने के कार्य में रोमांच हो रहा है दिखा करके पाने में रोमांच हो रहा है उसी रस को ताकती नहीं कर और तरवश्च और वृक्षों के साथ यही बात है तरव तरु जिनको जिनकी प्रशंसा स्वयं कृष्ण ने अपने मुख से किया है भगवान प्रशंसा किए हैं वृक्षों की आप श्रीमद भागवतम में देखिए जितनी प्रशंसा भगवान वृक्षों के किए हैं उतना और किसी की नहीं जगत उपकार परा जगता जीवन उपकार परा समस्त जीवों का सहज उपकार करते हैं वृक्ष तो जगत का उपकार करने के कारण भगवत सूत महात्म्या तो श्रीमद भागवतम के दसम स्कंध एक भी कण वृक्ष का बेकार नहीं जाता सब दूसरे के काम में आ जाते इतनी महिमा वाले जिनकी महिमा का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण किया है भगवान ने किया है और जगत उपकार पर ये श्रीपद सनातन गोस्वामी के मुख से भगवत अस्तुत महात्म्य आया है लेकिन गोपियों के मुख से भी ये आज तक कृष्ण जी की इतनी प्रशंसा करते हैं जो जगत उपकार पर आए हैं तब तीन वर्ती जमुना के तीर पर जिनका जन्म हुआ है या मानसी गंगा जी के तीर पर जिनका जन्म हुआ है ऐसे वृक्ष भी भून जाते हैं प्रथम तो सारा रस निन्यानवे प्रतिशत तो भोग गया बेहू एक प्रतिशत बचा तो उसको तलइयों ने भोगा और तलइयों के तीर पर अपने जड़ से उनका पानी पीते हैं तो इसके बाद वृक्ष भोग करके ये आनंद में आंसू हुआ है तरह इनडायरेक्टली ये ये अपने को बड़ भागी मान रहे हैं कैसे पी रहे पादई स्तर नदी जल पानता और वह भी अपने पैर से नदी का पानी पी करके इतना आनंद में है जिस नदी के जल में कृष्ण के अधरामृत का बचा हुआ रस मिला है उसको तो पी करके नदियां प्रसन्न है और उन नदियों के जल को पी करके वृक्ष आनंदाश्रु गया कैसे पता है कि ये वृक्ष आनंद में है तत्वलिंगम पहचान अश्रु मुगुसुर अशुभ हार वृक्ष प्रसन्न रहते हैं तो मधु धारा बहती है मधुर के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं या शाखाओं पर मधु धारा निकालते हैं तो अश्रु मुमुचु होती है अन्यथा तादृश हिस्सेत्व कसरंग मोक्ष कत्वानुपत्ति हनी सखी अन्यथा दूसरे कारण से इन वृक्षों में ऐसे आनंद आश्रु कभी नहीं निकल सकते हैं ऐसा रोमांच हो ही नहीं सकता तो वृक्षों में मधुधारा और एक अश्रुपात हो रहा है और इनमें भी रोमांच है वृक्षों में फूल खिले हुए हैं फल लगे हुए हैं और बिल्कुल स्तब्ध झुके हुए ये रोमांचिक तत्र दृष्टांत किस तरह से वृक्ष सुखी है इसका दृष्टांत दे रहे हैं आर्जा जथा आर्जा आर्जा का अर्थ है महानत महानत जथा श्री भगवत रसानुभवे न एवं हर्षाद रोमांचिता गलद अश्रु गलद अश्रु मूर्छ च भवंती न अन्यथा जितने भी संसार में महान पुरुष हैं भगवत भक्तगण आचार्यगण वे लोग भगवत रस के अनुभव से ही रोमांचित होते हैं और उनके आंखों से आंसू बहते हैं अन्य प्रकार से नहीं तो वृक्ष तो ऐसे ही महात्मा है महात्माओं के गुरु हैं अपनी लीला में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात तो कह ही दिया लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के सबको कहा कि वृक्षों को गुरु बनाओ करो रिव सहिष्णुआ वृक्ष जैसा सहिष्णु बन तो वृक्ष को आचार्य के स्थान पर रखा दुष्कांत और दीनता के लिए तीर्ण तीर्ण से सीखना चाहिए दीनता और सहिष्णुता वृक्ष तो ब्रज लीला में भगवान प्रशंसा किए हैं वृक्षों की और चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला कर रहे तो वृक्ष ही उनको गुरु मिले दिखाने के तो इस प्रकार अवश्य महान महान तो जिसकी प्रशंसा भगवान कर रहे हैं वो महान नहीं होगा कौन हो सकता है तो पहले से परंपरा रही है कि महान पुरुष भगवत रस के अनुभव से ही रोमांचित होते या आनंदासु बात है तो यह कहा जाए कि ये बोल तो नहीं रहे हैं तो इस पर भाव यह है कि वास्तव से गदगद बाड़ी है बोला नहीं जा रहा आनंद केवल आंसू बहा रहे हैं रोमांचित कभी कभी महान पुरुषों में ऐसा देखा जाता है कि भगवत रस विशेष का अनुभव करके उनकी वाणी बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है केवल मन में रहता है और वाणी से कुछ उच्चारण नहीं होता है आंखों में आंसू बहता है शरीर में रोमांच है तो जथा आर्जा महान तो श्री भगवत भवे न एवं हर्षा रोमांचिता गलदश्रु मुचश्च भवंती न अन्यथा जथा जदवा हृष्य त्वच सत्य परम दुर्लभ नाभे न आनंद भर सूचित तो दुर्लभ लाभ मिला है इसलिए ही सत्वचन अतो जस शिष्ट द्रव मात्र पानी ना पी तासाम ईदृशो हर्ष तस् पूर्ण महात्म्य कथम वर्णन की राम तो जिस देवु के उच्छिष्ट रस मात्र का पान करके हृदयों की ये दशा होती है और उसका भी उच्छिष्ट पान करके वृक्षों की ये जब दशा होती है तो ऐसे महा महापुण्य परिपाक वेणु के सौभाग्य को कौन वर्णन कर सकता कितना पुण्य किया होगा कितना तप किया होगा इसको कौन कह सकता है तरव तु अश्रु मोच तस्य है न उदा अरुदलित अथवा अश्रु मोच यह कहा गया है हृदयों को तो कृष्ण का धर्म मिल जाता है कुछ ना कुछ बच्चा लेकिन वृक्षों को नहीं मिलता इसलिए बेचारे शोक में रो रहे हैं अथवा दूसरे वृक्ष रो रहे हैं कृष्ण बांस को ही सौभाग्य दिए और को नहीं अथवा इसलिए रो रहे हैं इसमें सब लिखा गया है कि कृष्ण जा करके हृदयों का पानी पीते हैं तो वृक्ष रोते हैं कि कब हमारा पुष्प लेंगे और हमारा फल खाएगा ये भाव इसलिए रोते हैं ये लाभ उनको नहीं मिलता इसलिए रोते हैं ऐसे सर्वत्र भगवान अपने हाथ से पुष्प चयन करते हैं और फल भी तोड़ते हैं प्राय सब जगह खाते तोड़ते हैं लेकिन यह भी एक भाव हो सकता है कि कभी कभी रोने लगते हैं अन्य जीव जैसे जैसे गोपियों जैसे गोपों जैसे प्रेम में अतृप्ति का अनुभव वृक्षों को भी होता रहता है जो सदा चाहते हैं कि कृष्ण हमें संस्पर्श दें हमारा फल भोगें और ये कृष्ण का अधरामृत हम लें तो, तो लेते ही हैं नदियों के जल में मिश्रित किम भूता आज कैसे आज तो वृक्षों को आर्ज उपमा दी गई जैसे आर्जगण भगवान रस के अनुभव से अशुभ आते हैं रोमांचित होते हैं ऐसे वृक्ष तो वृक्ष कैसे आज अथवा आर्जा जता वृक्षों को ही आर्ज कहा गया छाया बिना जगत उपकारण महानतों की छाया आदि द्वारा आदि सबसे फलादि द्वारा छाया फल आदि द्वारा जगत के उपकारी हैं तो ये महान जगह ननु तरुणाम तद भोगे कथम अपनी संभावना की नाश लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि वृक्ष ऐसा करते हैं कि कृष्ण का घराने खननीय जो कभी संभावना नहीं हो सकती वृक्ष कैसे आशा करेंगे कथम तद अप्राप्त्या रोदन संभव वृक्ष कैसे अभिलाषा कर सकते हैं कृष्ण का धरामृत हमको मिले और फिर नहीं मिलने पर रोएंगे कैसे नहीं रंग को राज्य अप्राप्य अरोदिति अरोदिति कोई रंग व्यक्ति कभी साम्राज्य पाने की कल्पना भी नहीं कर सकता और नहीं मिलने पर रोएगा कोई भिक्षुक है भिकमंगा है कंगाल है तो उसको कहीं मांगने जाए तो उसकी लालसा भी यही रहती है कि हमको कोई एक दो रुपया दे उससे कभी दिल्ली का गद्दी हथियाने की इच्छा नहीं होगी कभी कल्पना ही उसके मन में नहीं होगी और न मिले तो कोई दुख नहीं उसको तो वृक्षों में कैसे संभावना हो सकती है कि का कहा ध्यान में पाना चाहेंगे और नहीं मिलने पर रोएंगे यह कैसे संभव है एक तो प्रश्न और किल तरही अन्ना अन्नाद्यर्थम एवं क्या शंका और क्या यह कहा जा सकता है भाई वृक्षों को कोई दूसरा रस नहीं मिलता है इसलिए कृष्ण का धर्म चाहते हैं जैसे किसी वृक्ष को भोजन न मिले पानी न मिले अथवा जैसे किसी दरिद्र को अन्न भी नहीं मिला पानी भी नहीं मिला तो किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए वो तरस सकता है तो अन्न और पान की तरह आवश्यक समझ करके वृक्ष रोते हैं कि कृष्ण के अधरामृत की महिमा को समझ कर रोते हैं दोनों में अंतर है ना एक व्यक्ति राज्य प्राप्त करने के लिए रो रहा है और दूसरा केवल अपना भोजन मिल जाए इसके लिए रो रहा है दोनों में बहुत अंतर है तो किस दृष्टि से रो रहे हैं तो जहां तक राज्य साम्राज्य की प्राप्ति की बात है कृष्ण के अधरामित की महिमा जानकर उसे लेने की इच्छा ये तो वृक्षों में हो ही नहीं सकती और हो भी जाए तो उनके पास न तो अपना कोई मुख है न हाथ है वो कैसे पिए और नहीं मिले तो रोएंगे कैसे तब कहते हैं जथा आर्जा परमार्जा सुधी है पधरामृत पान हिना अपि तद प्राप्त सुखे नश्रु चलती तद वृक्ष वास्तव में आर्ज तो जैसे आर्जगण परम भगवत भक्तगण सुधिया जिन्हें भगवान का अध्रामित नहीं मिला है फिर भी उसकी अप्राप्ति से उन्हें शोक होता है शोक करते हैं ये भी जानते हैं कि हम इस शरीर से और इस स्थिति में कृष्ण का धर्म पी नहीं सकते मिल नहीं सके फिर भी नहीं मिलने पर शोक का अनुभव करते इस तरह से वृक्ष कर रहे जथा जथा अथवा तरल आर्ज सरल बुद्ध अन्य समान अतो अयम गोप्य इसलिए हे गोपियों राधा रानी आदि सखियां कह रही हे गोपियों निभृतम कुत्रा की संगोप्य रक्षण अर्थ है इस वंशी को चुरा करके और एकांत में रख लिया जाए यह अब कृष्ण का अधरामृत न पीने पावे यह भाव है इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी बहुत लिखा है किंच जस्य स्वजाति संभव से वेणुस्तादृशम सौभाग्यम दृष्टि सर्वे स्थावर जाते अपनी मधु मिश्रण अश्रु मुमुचु हरि सखी हरि सखियों स्थावर जाति में जन्म होने के कारण वेणु के सौभाग्य को देख करके समस्त स्थावर जाति मधु के बहाने अश्रु बहा रहे आनंद में तत्र दृष्टांत तथा आर्ज पितर स्वकुल संभव से तादृशम सौभाग्यम अनुभूय अश्रु मचंती तो जैसे भगवत भक्त गण होते हैं और देखते हैं कि उनके वंश में कोई भगवान का भक्त उत्पन्न हुआ है तो ये लोग बहुत प्रसन्न होते हैं गदगद होते हैं रोमांचित होते हैं आंसू बहाते यदि अच्छा व्यक्ति होगा आज होगा तो उसके वंश में कृष्ण भक्त हो तो बहुत हर्षित होगा यह एक प्रकार से आर्ज की परिभाषा दी गई है केवल नाम आर्ज बख लेने से ही व्यक्ति आज नहीं हो जाता आज का अर्थ है कृष्ण भाव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम सरल बुद्धि भगवान का आश्रित व्यक्ति तो आज के वंश में कृष्ण भक्त हो, होते हैं तो ये लोग आनंदाश्रु बहाते रोमांचित तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को आर्ज बनना चाहिए उनके वंश में कोई व्यक्ति भक्त हो रहा है तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए ईश्वर पक्ष अच्छा ठीक है ये तो अनुकूल भाव सुगरणों के विषय में कहा गया इसके वंश के सब लोग आनंद में ईर्ष्या पक्ष में विष्णु से कोई कहते हैं तस्मात समाज एवं देश तस्क से कोवर दोष अरे सखियों जो देवरू का सारा समाज ही एक ही ढंग है ऐसे ही है कोई भी अपने परिवार में जन्म लिए हुए बेड़ू के दोषों को नहीं देख रहा है तो एक का क्या दोष है बेड़ू का क्या दोष सारा समाज ही ऐसा तलैया सौभाग्य मान रही है सारे वृक्ष करोड़ों करोड़ों इसका भाग्य मान रहे हैं दोष तो केवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है सब लोग इसके केवल गुण को देख रहे हैं क्या कहा गया समाज का दोष है इसका एक करना देवर का ही दोष नहीं सारा समाज ऐसा हो गया चक्रवर्ती कार्य करते किंच नयम और फिर कहते हैं किसी सक, किसी सखी ने कहा कि अरे सखियों ये ये कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे हैं तो बांसुरी में यह कृष्ण की खोक है दूसरी शक्तियां तो अरे नहीं नहीं ये खोक नहीं है किंतु स्वसंभोग स्वसंभोगोत्थम मणितम एवं मणित का संस्कृत होता है डकार अरे अभ्रामित पी पी करके यह इसकी डकार है कृष्ण नहीं फूक रहे हैं तत्व अस्मन श्रावित्रा और वो भी हम लोगों को सुनाकर डकार आवे तो इतना उच्च डकार नहीं लेना चाहिए तथापि न वशिष्ठम कुछ भी बचने नहीं देता है रस किंचन मात्रों की जत्र तत्व था यथा सभी ऐसा चलाकी से भोगता है कि कुछ भी रस बचने नहीं देता है धन स्वामी अस्मान अस्माकम कृत स्वभुक्ता और सिस्टम के किंचित न रख चुकी हम लोग स्वामी है उस धन की कृष्ण के अधरामित की स्वामी हम हैं लेकिन हम लोगों के लिए भी कुछ भी नहीं छोड़ता अहो धार्ष्टन भाव इसकी अद्भुत धृष्टता है और किंच तब देशवर्ती न सर्व वजनस्ता क्या हो और इस देश में इस वृंदावन में सभी ऐसे ही हैं देवरूप के जाति के जितने लोग हैं सब ऐसे हैं न हृदयों ने कभी इसको डांटा न वृक्षों ने डांटा उल्टे आनंद के आंसू बहा तब देश वर्तिना जिस देश में वेणु का जन्म हुआ है जिस स्थान में तो तब देश वर्तिना सर्वे व जना तादृशा उसी के समान यह जैसे खल है वैसे सब इतना दोष भरा है वेणु में लेकिन कोई वेणु में दोष नहीं देखा जतो अधर सुधा भोगा तम विक्षेप भगवत गुणम श्रुवा अश्रु पुलकादिमं तो भवंती तथयते मृतम सुचेती हृदय से सत्य स्तर से सखाय दूता है अरे ये जो नदियां हैं या तलैया हैं इस वेणु की सखियां हैं और वृक्ष जो हैं ये सब इसके सखा है ये सब इसके सहायक बन रहे हैं और सब ने मिल करके समाज इकट्ठा करके यही खाना है क्या हम लोगों से वैर खाना है कि अब गोपियों को कृष्ण का धरामृत एक सीकर भी नहीं सुलभ होने लिए हम लोग सब लोग बेड़ू को आगे बढ़ा करके और इस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं अतो एवं गोप्य निभृतम के रक्षणीय यथा कृष्णा धर्म न प्राप्त होती असूया इस तरह से ये भाव है कि किसी भी तरह से इस वेणु को छिपा करके एकांत में रख दिया जाए जिससे कि ये कृष्ण के अधरांगी को न प्राप्त कर सके यह असूया नामक संचारी भाव है संचारी भाव बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है संचरण करता रहता है असूया बांसुरी के विषय में गोपिया कहती है कुछ पद सूर्यदास जी के हैं अधर रस मुरली लोतन लागी अधर रस मुरली लोतन लागी अधर रस मुरली लोतन लागी अधर रस मुरली मुरली लोकन लागी अधर रस मुरली लोकन लागी अधर रस मुरली लोकन लागी अधर रस जारस को सत ऋतु तप कीना जारस को सत सोरस पियत सभागी अभर रस मुरली लूतन लागी अभर रस मुरली लूतन लागी अधर रस मुरली लूटन लागी तो गोपियां कहती हैं कि जिस रस को पाने के लिए हम लोगों ने छौ ऋतुओं में तप किया कात्यायनी की पूजा किया क्या क्या किया बहुत दुख सही घर का लाछन सही सास ससुर के पति की उलाहना सही और सब सही जिस रस के लिए हमने सालों भर तप किया छ ऋतुओं में उस रस को यह सौभाग्य सौभाग्यवती बांसुरी पी रही मुरली पी रही जारस को सत रिप पक पीना जारस को सत जारस को सत ऋतु तक पीना जारस को सत सोरस पियत सभागी भर रस चौरस दियता सभागी अधर रस मुरली लोकन लागी अधर रस मुरली लोकन लागी अधर रस कहाँ रही कहाँ कहाँ रही कहा आई कहाँ रही

कहता ही है आई कहाँ रही कहाँ से आई है कौन इसको बुलाया यहाँ कहाँ रही कहते ही है आई कहाँ रही कहाँ कौन आई बुलाई धन रस कौन आई बुलाई संस्कृत भरी कहती ब्रजवासिनी प्रस्थित यह तो भली नयाई अघल रस यह तो भली नयाई कहत मुरली लोकन लागी रस मुरली लोकन रस सावधान क्या होत नहीं तुम सावधान क्यों अब क्यों नहीं सावधान हो रही है इसको किसी तरह चुराओ या कुछ खर्च कर जमने में फेंक दो या सारे बांस में आग लगाओ और बांसुरी ना बचने का सावधान क्या होत नहीं तुम सावधान

जी कहते हैं अथवा गोपियां कहती हैं कि सूरदास के प्रभु हम पर सौत ला दिए वो भी बजा करके बाजा बजा कर चुपके चाप लाए होते तो बजाई का से समाज में जैसे ढोल बजा कर विवाह होता है बैंड बाजा ढीले करके वैसे जगत को जमा करके हमारे सिर पर सौत ला दिए सूरदास प्रभु हम पर ताको सूरदास ताको माने उसको मुरली को सूरदास प्रभु हम पर ताको सूरदास प्रभु तीनों सौ तब अधर रस तीनों सौ तब अधर रस Yeah. जैसा आपने सुना कोई कोई सखी कहती है कि अरे सखी देवड़ू का दोष नहीं है सब कृष्ण का दोष हम लोग ने इतना प्रेम किया लेकिन इसको भूल गए और नई नई ये बहु लाए हैं इसे इतना प्रेम करने कोई कहते अरे श्याम सदा से ऐसे ही है तुम नहीं जानती हो उनको सजनी सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई ऐसे शब्द बहुत ही बुरा लगता है समाज में आप किसी के बारे में बात कीजिए और कोई कहे कि आप उनको जानते हैं तो आए वैसे ही तो ऐसे ही मतलब <laughs> है ऐसे में सारी बुराई आ गई बस बस बस ऐसे ही है सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई ऐसे एक अंग की प्रीति हमारी एक अंग की हमारी जो उनके प्रति प्रीति है एक अंग की है मतलब अनंग अखंड अखंड प्रीति है हमारी लेकिन वे जैसे के तैसे एक अंग की प्रीति हमारी जैसे कैसे सजनी रे जैसे कैसे सजनी श्याम सदाई श्याम सदा सजनी श्याम सदा तो उदाहरण देती है कैसे कोई व्यक्ति प्रेम करता है दूसरा प्रेम नहीं करता है जो चकोर चंदा को चाहे जो चकोर चंदा कन मान जैसे पृथ्वी पर रहने वाला चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है लेकिन चंद्रमा कुछ नहीं प्रेम की कीमत करता इस तरह से कृष्ण हमारे प्रेम की कीमत उन्होंने किया नहीं जब चकोर चंदा को चाहे जो चकोर चंदा ने मान सजनी चंदा ने मान सजनी श्याम सदाई सजनी श्याम सदाई सजनी श्याम सदाई हे सजनी श्याम सदाई जल के तीरे मीन तन त्यागे जल के तीरे नीर मिठुर नहीं जाने नीर मिठुर जैसे मछली जल के तट पर मर जाता है लेकिन पानी बहता हुआ छोड़कर चला जाता है वो ये ये नहीं ध्यान रखता कि बेचारी मछली छटपटा रही है मेरे लिए वो पानी बहता जाता है ये कृष्ण की दशा जल के तीरे नीम तन त्यागे जल के तीरे खाली मत बजाओ जल के तीरे मीन तन प्यारे जल के तीरे मीन तन प्यारे नीरन छुड़ नहीं जाने सजनी नीरन छुड़ नहीं जाने सजनी श्याम सदा हरियर श्याम सदारी सजनी श्याम सदा और जैसे पतंग आग पर गिर जाता है आग से इतना प्रेम करता है लेकिन आग जला देता है उसको फतंगों के प्रेम की कीमत नहीं करो जो पतंग उड़ी पर ज्योति सकी जो पतंग उड़ी अब ये उदाहरण सूरदास जी इसलिए दे रहे हैं गोपियां इसलिए दे रहे हैं कि जल मान लीजिए बह जाता है मछली का कुछ नुकसान तो नहीं करता है ना इसलिए अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं वो तो पतंग प्रेम करता है आग से और आग जलाकर उसको राख कर देता ये कृष्ण हम लोगों को किया सजनी श्याम सदाई सजनी श्याम सदाई सजनी श्याम सदाई श्याम सदाई जहाँ पतंग उड़ी पर ज्योति तक जहाँ पतंग उड़ी वाके में कन भाए वाके में कन भाए चातक रति रति जन्म गवावे चातक रति रति चातक रति रति जन्म गमावे चातक रति रति जल वैदारत खाए सजनी सजनी श्याम सदाई सजनी श्याम सदाई है समुद्र ज्यादा वर्षा समुद्र में होती है तो चातक एक बूंद पानी के लिए रट रट रट के मर जाता है जीवन बीत जाता है लेकिन बादल सारा पानी समुद्र में देता है चातक के सोच में नहीं देता तो हम मर गई तपस्या करके अधरामृत के लिए और सारा अधरामृत बांसुरी को दे रहे हैं ये कृष्ण की दशा चातक रटी रहती जन्म गवावे सातक रखी रखी जल वेदारत खाए सजनी जल वेदारत खाए सजनी श्याम सदाई ऐसे सजनी श्याम सदाई सजनी श्याम सदाई वे तो निर्दयी है ही शुरू से जन्म से ही और जब से बांसुरी मिली है ये महानिर्दयी तब से दोनों बहुत उत्पाद कर रहे हैं ते तो निर्दयी बड़ी है ते तो निर्दयी सजनी कैसिय मुरली पाई सूर श्याम जय शीत शिव सूर श्याम जय श्वेत शिव सूर श्याम जय श्वेत शिव सूर श्याम जय सेवा भली बनी श्याम सदाई ऐसे श्याम सदाई सजनी श्याम सदाई सजनी श्याम सदाई श्रद्धा से कृष्ण ऐसे ही है सजनी नख सिखते हरि खोटे सजनी नख सिखते हरि खोटे सजनी सात पर सजनी नख सिखते हरि खोते सजनी नख सिखते हरि खोते ये नख से पैर से लेकर के और चोटी तक बिल्कुल बुराई से भरे हैं कृष्ण इनमें दोष ही दोष है और ये गुण हम तभी से जानती हूँ जब माँ जशोदा छोटे कहती थी बलराम जी बड़े थे इसीलिए मैं जो सदा इनको छोटू या छोटे कहा करती थी आज भी छोटे लड़के को छोटू छोटे कहते हैं ये गुण तब ते जानती हम ये गुण तब जब जननी कह छोटे सजनी जब सजनी मत सिखते हर खोते सजनी सिखते हरि सजनी मत सिखते हर खोते सजनी मत सिखते हर खोते क्या क्या खोतापन है जाकर जमुना के तट पर हमारा वस्त्र चुराए थे वही कृष्ण है ना अंबर हरे जाई जमुना तट अंबर हरे जाई जमुना तट अंबर हरे जाई जमुना तट अंबर हरे राखे कदम चढ़ाई सजनी राखे कदम चढ़ाई सजनी सब के चरित सब जानती हाँ के चरित बनाई सजनी सिखते हरि खोते सजनी सिखते हरि खोते जप जब जब हम तप करी करी तन गारो जब हम तप करी अधर सुधा रस काज सजनी अधर सुधा रसकात सजल सो मुरली निबरे नचवती है सो मुरली ऐसे है ब्रजराज मुरली ऐसे है ब्रजराज सजनी सुखते हरिखो हमको यो और को ऐसे हमको यो रन को ऐसे मुझे दिन होगा कहावत सुरई कहा दीजिए दारी सजनी सजनी नक्स फते हरि खो सजनी सजनी ये गुण तब ही जानती हम ये गुण तब जानती हम जब जननी कहे छोटे सजनी जब जननी कहे छोटे सजनी सुखते हरि खोते सजनी सुखते हरि खो सजनी सुखते हरि खोते मुरली कौन सुकृत फल पाए मुरली कौन सुकृत फल पाए मुरली कौन सुकृत फल पाए मुरली कौन सुकृत फल पाए अधर सुधाती वती मोहन को अधर सुधाती अधर सुधाती वती मोहन को अधर सुधाती सब कलंक मसाए सुख फल पाए मुरली कौन सुकृत फल पाए मन कठोर तन काच प्रकट ही मन कठोर छिद्र विशाल बनाए मुरली ज्ञान कठोर तन गाठ प्रगत ही मन कठोर तन छिद्र विशाल बनाए मुरली छिद्र विशाल बनाए अंतर सुन सदा देखियत है निज कुलवंश सुभाये मुरली निज कुलवंश सुभाये मुरली कौन सुकृत फल पाए मुरली अंतर में शून्य है कुछ है ही नहीं खाली खाली है बांसुरी के और सारा स्वभाव अपने वंश का ग्रहण की है वंश जैसा बेकार है सुस्त है ऐसा लघुता नहीं कुछ करनी लगता मूर्खत तो में न लगाए जब गोपियां इस तरह से कहती हैं बांसुरी के विषय में बांसुरी में छेद है ये है वो है वो है